वो जिसको चाहता है दानाई अता कर देता है और जिसे दानाई अता हो गई उसे वाफिर मिकदार में भलाई मिल गई और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक हैं